आप जितना गाना गाओ ये बन जाएगा ऐसा गाना ये पाँच सेकंड का ये उठे मसीद घूमता कर दीजिए हाँ भैया फोन मत कर दीजिए المسيب الذي है कौन हम्म? का है है पांच पांच पांच ही दो पांच ही उन्होंने मैंने पांच ही हाँ भाई ये बच्चे की आँख की पोल मत कर जी न तो रोशनी पाची रुन जावली अर्थन हम्म। बन खूंगे जो है दो शेर पांच शेर तो मारे बोली जो तो फिर लाती रही यो कबूतरों के दान मशीद पर उठो उभी रहे बच्चे ने कुछ हुआ जाएगी आग मांगने सबने रोज दिन प्यार के उनको उड़ा दिखा और राखियों भाजी मारने का मंगाओ लेटा राखियों राखियों का हाँ राखियों के दिन हो जाएगी आज बजे दुगा अगर माता दुगा हां को हां हाँ ये फोन मत कर दीजिए ना तो फिर ये एक तो रंजी रंजी फिर दो ही रंजा वाली हां ये बार की रात मिलिया पूरे भाई क्या करो रुजगंजा रुजगंजा मैं के इधर नहीं आ गया इधर के साथ ही बात को रेशम का डोर है मशीद पे जार बेटा अगरबत्ती जला रहे इनको तो मान दीजिए बच्चे का राखी थी बस मारो के साथ बात को हाँ हम्म। भाई जान की रोशनी रोशनी सबने बड़ी बेटा बेटा जाए हां भाई बोल जाए हाँ, हाँ, हाँ, आपका ब्रह्मा काम मैं दर्शन वास्ते है बाबू जी आप आशीर्वाद दीजिए माता जी ने जरा देखो ये पांच गुण का देवी मानगन हम्म। है देख हम्म, हणजे ये पांच गुण का हरी जीतनी बांध रहे हम्म। पे में कोटा में चौटी लौक दीजिए हाँ, हाँ। जा जीत रहा तू तारी हाथों भी फेर जीत रहे जाओ तुम्हारा ना फेर खंजाड़े दोबारा फेर तो आज जरूर जोधपुर लेट ये पांच चिकन का गनाया मारने का नहीं जुमला फेर दूं हरी चीतरी में बांध लीजिए हम्म, हम्म। जाने पर बहुत फोड़ा दोनों ही डूटो मार जी यो आग से ये भाई आपको बाहर हो जाएगा हाँ जीत रहे हैं ना भाई हाँ पाँच भाई चल पड़ेगा पाँच जी तेरे से पाँच होगा अंदर दो वाह वाह हां ले भाई जगह दे आ बमो खाना पीना बनाओ मैं मैं जाऊँ बार बार बस एक मिनट आप देख हाथ तो क्या बस मेहरबानी कम कम में में जो जो जो ध्यान दिए मैं मैं जांच हाँ, लिया हाथ पकड़ के देखो भूल के की बोल गई उठे भाषा योग ना होगी लगा ये पाँच ही उनका मारने का ना अब तेरे लिए पाँच है पाँच है ये पट्टे लाग दीजिए मांस मांस बनाना है पट्टी में और लगा दीजिए वहाँ भाई ये समाचार मैंने कह दीजिए लटा हाथ पकाना सबने पांच लिए पांच टोन का बाकी कितने लग दूसरा है टोन बाकी लिए जो कार्बन होंगे जो उन्हें कौन जो तुम एक ना हंजे दो ना हंजे सारी हरदा हो जी ना हंजे भाई ಬಾಜಿ ಭಾಷಾಗ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ ये तो पल्ला बांध दीजिए उसको आगे ले जाइए धोने में जिन्हें शो काम कर जाएगा माता का तो कमा दीजिए वाह भाई या मैं क्यों जी भी सुनियो ना सुनियो कि या तो अगल ये कुणका मगर पल्ले बांध दीजिए हम्म। दो अटवाड़ी तक जो तैयार हो जाओ और फर्क पड़ जाओ तो मार ले रहा है आगे आ जाओ शंकर गार दीजिए काम कर सौ मीटर जो लेर मशीन में खड़ा वो तो ऊपर एक सौ एक बारी उतार आज जो ज़्यादा मतलब लार वहाँ का ऊपर ಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದಸರ ನಾವು ಕಾಣ್ದಾಗ ಮಜ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ ಭಾಯಿ प्रभादादा पाँच दो लड़ा ये पाँच बोल नींद बहुत आया नींद बहुत ज़्यादा दिन भर में गाड़ी चलाओ जरा श्रावण होते नहीं है बहुत ज़्यादा बोले रात में सुते रहते नहीं कितना कोई थार देव जाना या आगे रखते है तो गुरु भगवान जी गुस्सा माता तो चीज तो जो कर दी करी कोई में तो कोई चीज बोली है कि जो ये पांच पांच मुंगा यार पांच मारने खाली कोई बत्तो जोर है कोई नहीं बत्तो जोर ये पांच तो जेब में नाग लीजिए अरे आटो धोनी मुझे आकर दे जाएगी నేను ఆకలి ఒకదాదో ఒకరు ఆగలేదు Thank you. बकियाने फिर प्रसादी करवाए प्रसाद में कराए यार तेर सौ चांदनी तेर सौ करा गए हर महीने में एक बार करा गरीब एक बार ठेठ जाइए जानी में थोड़ा बहुत हर देश में करे तो एक बार देश में उठी जार कर जी बेटा Oh, my God. पाँच पाँच पाँच दिन का बनेगा बच्ची को मत कर दीजिए मेरे फेर दीजिए और भी फेर अरे हरे कोरोना जा रे हाथ को रेशम लार उड़े बस बना अगरबत्ती इधर बस हमारा मखाट हाँ, अजीत गांधी के समाचार के राखी बेली तुम्हारा राजा मैं भी हाँ जो भी हो जो मत नहीं उनको जो तुम्हारे ये चढ़ा जाइए मत चढ़ा हाँ हम्म। यही समाचार के भारत कोई ये भोपांग न बना रहा जो भोपांग बना रहा या सराय बना रहा तो हाँ। राम द्वारा के लिए हाँ। मारे कोई है कोई नहीं जी मारे मारे रहे तो हमारा सामान पिटा रही आसान पर्दा आ जाए तो वही मीन बैठा रही आराम के साथ तो मारे यू कोने जी मारे और बना रही जी मारे और हम हमारा भोपाल का सामान पिटा रही तो बाकी क्यों ओर ध्यान रखिए सुनियो ये डोरो बना दीजिए तो सब है जो चल बिड़ान सबने बड़ी खाड़ है भाई और डोरो बनाओ आप डोरो बना बांध दिए था पौधा जो काम है कोई सब कबाड़ा ने रेट के आज इतवार पाला भी इतवार तक मु आटा ना फर्क है वाह हाँ भाई बढ़िया पोल मत कर दीजिए मस्जिद की आगे वो दो डीर पाँच मु तड़के वो बना दिया तड़के वो तो हरे कपड़े तड़के उतार नहीं उतार मेल दिए था घरे घरे में आटा ना फर्क पड़ जाओ तो उठे चढ़वा दीजिए ना पड़े तो था घरे रहा हाँ आयो करवाने आयो करवाने आयो करवाना ला हर पास आवे सबको इसके आगे हाँ ठीक आदमी ने बताया सरी हाँ, बल्ला जो कि फर्क ಮಾಂಗರಾಡ್ಗ ಟಾಪರ್ನ ತಗೋ ಅಜೀತ್ ಖಾಜಿ ಲಯ ನವಾಕಮ ಮುನ್ಯಾರೋ जो भिपचाई का रिगा में अन्न दो हाँ। हाँ। ना तो पर कोने ए मुल्ला महाराज सो ये पांच चिकन बदल देना मसीद लोग दरा जी बाली मकन और नंबर है हो जाओ तो पुनीर बदल बात <laughs> वाह भाई तुम तो घणी मार में चारी पर नंबर तो है भाई आ जा कुछ कर हां भाई कोई ये तो हां राजा दिखा था हां जी हां भाई बोल दे करें रेबरी बाबा राजी बाबा रेबरी घूम रहा है हां रेबरी हां निकर मेरा जी चीज तरक खाना नूर चाहिए धंधा रहा है जो भोपा है सबने भेड़ा में पकड़ में जाए उनसे कम सब आई ना तक की जगह लो दे दो कर ठीक ही जगह लो दे दो कर आज तो दान दो दिन में करा जाए एक ही संसार है हमारा तो ये संसार है कोई नहीं दो दो भाई दो दो बैठा हाँ। है भाई बोल बोल रहे अरे बैठ जा बेटा मेरा तुम बोल ठीक है हाँ। बाबा बड़ा बड़ा बढ़िया बेटा ये पांच किलो का बड़ा बढ़िया है तो मुझे आने दरबार आ गए अब बात करिए दरबार जो तो बोल हो जी बोल जाए तो फिर घोड़ा पकड़ जाऊं ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಜೋಗಿತಾರ ಮುಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಗಮ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚೋದು ಗಮ ಅರ್ಧ ಹೋಲೋದು ಬೇರೆ ಘೋರ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ छोड़ के ना तुम्हारे बोल छोड़ के ना तुम्हारे बोल